एक हेलो हाँ जी हाँ जी ये विष्णु जी बोल रहे हैं जी जी अच्छा विष्णु जी आपका ये नंबर मेरे पास इन्होंने काशीनाथ जी ने दिया है और ये आप बताएंगे कि आप गौरीकुंड से लौटे हैं हाँ जी सर अभी मैं आधे घंटे पहले आधे घंटे जाते हुए अच्छा जी जी जी विष्णु जी मैं ये जानना चाहूंगा वहाँ पे क्या हालात बने हुए हैं जिस तरह से ये कयासबाजी अभी चल रही है कि गौरीकुंड पूरी तरह से तबाह हो गया वहाँ पे कुछ भी नहीं रह गया कोई निशान तक नहीं रह गया है तो मैं ये जानना चाहूंगा हाँ। जरा विस्तार से कि आप ये बताएं कि गौरीकुंड में का इस समय ताजा हाल वहाँ पे है क्या वस्तु स्थिति है क्या वहाँ पे जो एक्चुअल लोग कह रहे हैं कयासबाजी आप वहाँ से देख के आ रहे हैं पहले शख्स आप हैं जो उसका हाल बताएंगे हाँ सर गोलकुंडा सर गोलकुंडा से बहुत तबाही हो रही है सर जी वहाँ आपको पता होगा सर वहाँ पे गर्म पानी का कुंड था गोरी माई का मंदिर था सर बाबा ट्रस्ट थी बाबा काली कमल की धर्मशाला थी हम्म। तो सारे सब कोशिश है वहाँ पे दिन कम से कम पंद्रह आदमी जिसमें से अभी दस हजार आदमी बचे हुए थे पाँच हजार पाँच हजार आदमी तो खत्म हो गए दस हजार दस हजार आदमी में से भी कम से कम दो तीन दो दो सौ आदमी मर गए और हाँ। आज दिन वहाँ से आया वहाँ से रात भर चल के आ रहा हूँ कम से कम रास्ते में पंद्रह बीस रास्ते पड़ी हुई है उनके ऊपर से गुजरा हूँ और वहाँ से कम से कम दस गुण से मुंसिपालिटी है वहाँ से भी कम से कम दो सौ आदमी सड़क पर कोई उनकी सुविधा नहीं रात अभी कहीं जिला वहाँ तक पहुँचा नहीं बहुत लोग बहुत भी परेशान है अभी मैं भी अपने साथ कम से कम तीस आदमी को लेके आया था जिसमें से पांच यात्री तो आगे रास्ते में चल जाता है मुझे सर्टिफिकेट है कि पच्चीस साल में था था मैं उनको पकड़ पकड़ पकड़ पकड़ ले गया है और गौरीकुंड से जब हम कल आ रहे थे सब मेरे को कम से कम एक किलो चावल था एक किलो चावल यात्री ने उनके के पास ऐसे छीन लिए जैसे जानवरों ने ऐसे हमला कर दिया ऐसे छीन पंद्रह मिनट में एक किलो चावल कच्चे खाली था जैसे हालत बन गया अभी भी वहाँ पूरे रात का भी वहाँ इतनी दुर्गंध शुरू हो गई सर महामारी फैलने वाले वहाँ कल से धूप है धूप में थोड़ी हो आदमी तो वहाँ पे धूप की कड़ी धूप आ रही है गोरखपुर में बहुत सही सर बहुत बुरी हालत सर प्लीज वहाँ कुछ करिए देखो जो लोग बचे हुए हैं वो भी खत्म हो जाएंगे सर अच्छा, हेलो जी जी तो ये ये वहाँ पे जिस तरह से राहत कार्य अभी बताया जा रहा है कि भाई सरकार कह रही है कि गौरीकुंड से लेकर वहाँ तक सब जगह राहत सामग्री दी गई है लोगों को राहत जो फूड पैकेट है वो दिए जा रहे हैं तो क्या गौरीकुंड हाँ में ऐसा कुछ नहीं हुआ गौरीकुंड में खुद था मैं वहाँ पे था मैं चार दिन से मतलब वहाँ पे हूँ सोलह तारीख से अभी तक मैं वहाँ पे था अभी आज ही मैं अभी आधा घंटे पहले घर में पहुँचा हूँ गुप्तवासी में मेरे सामने तो ऐसे कुछ नहीं था ऐसे होता तो मैं सब मेरे हाथ से काम क्यों खींचे सब तो इतने परेशान है सब वहाँ यानी कि सरकारी यानी कि सरकारी दावे पूरी तरह से खोखले हैं कोई नेता कोई नेता नहीं आया वहाँ कोई नहीं आया अभी तक कोई राहत कार्य नहीं अच्छा आप आप अच्छा जो यहाँ की हेलो सर जी विष्णु विष्णु जी मैं मैं विष्णु मैं इतना ये जो आपका नेटवर्क बार बार जरा डिस्टर्ब हो रहा मैं जानता हूँ पहाड़ों में क्या होता है कि आप एक ही लोकेशन पे रहें जहाँ पे आवाज सही आ रही है मैं कुछ मैं चाहूंगा आप हिले नहीं और दूसरा ये बताएं कि जो आप कह रहे हैं कि वहाँ लाशें बिछी हुई हैं किस तरह का मंजर वहाँ बना हुआ काली कमली में किस तरह से लोग फंसे कैसे बहे थोड़ा इसके बारे में बताए बहुत साहब गोरखपुर में साहब हेलीपैड वहाँ पे बना हुआ था लेकिन वहाँ पे अभी कोई गया नहीं लोग वहाँ पे इतनी चीख रहे हैं चीख रहे हैं लोग है की जैसे ऑल पेपर देख रहे हैं सारे यार लोग चीख चीख के आवाजें किसी की आवाजें भी बंद हो गई सब बिल्कुल जाता सा होगा जिसको बिल्कुल नजदीक पहुँच चुकी होगी तो किसी भी तरह से वहाँ पे कोई भी राहत कार्य अभी नहीं कर, नहीं है आपका नहीं सर मैं खुद वहाँ का मेरा खुद रेस्टोरेंट था सर न्यू की होटल मैं मुझे वहाँ की बहुत अच्छी जानकारी है सर वहाँ पर अच्छा आप आपका होटल आपका होटल ठीक है नहीं सर मेरा होटल में एक मतलब ईटा तक नहीं बचा हुआ है सर बिल्कुल साफ बिल्कुल जिसको नाम नहीं है सर वहाँ पे ऐसी बुरी हालत है सर कितने लोग उस समय आपके होटल में रहे होंगे आपके होटल में कितने लोग रहे होंगे उस समय उस समय सर मेरे होटल में तो कम से कम तीस पैंतीस आदमी थे सर उसमें से मैं आधे से सब लोग निकाल देते अच्छा पूरा आवाज पूरे गौरीकुंड में कितने होटल रहे होंगे आपके हिसाब से होटल लगभग उसमें से लगा मतलब कम से कम दस होटलें बची हुई है जो भी ऊपर पहाड़ी भी थे अच्छा बाकी इधर मतलब नीचे गर्म आप तो गर्म पान गर्म कुंड को तो जानते गोरी माई का मंदिर गर्म कुंड वो तो बिल्कुल जैसे किसी ने मतलब वैसे पता नहीं अभी पानी आया कि पता नहीं चला था वहाँ पे पता ही नहीं चल रहा है यहाँ का भी गौरकुंड बड़ा बड़ा था वो तो वहाँ कम से कम पच्चीस हजार पच्चीस तीस हजार आदमी रहते थे सर वहाँ तो यानी कि गौरी कुंड गौरी कुंड में ये हादसा कितने बजे हुआ सोलह तारीख को शाम को सर शाम को सर तीन साढ़े तीन बजे से शुरू हो गई थी हम्म। सात साढ़े सात आस पास इतना मतलब पानी तेज जलधारा इतनी बढ़ गई कि मतलब उस समय ज्यादा गए मैं चार बजे से शुरू हो सर चार ढाई तीन तीन ढाई तीन बजे से तपरा शुरू हो गई थी और चार साढ़े चार बजे से सर यहाँ पे वो कार्यक्रम चालू हो गया था तो अभी अभी वहाँ पे क्या स्थिति आपसे कोई प्रशासनिक अधिकारी आपने किसी को जानकारी दी कि वहाँ पे ये हालात बने हुए हैं इतनी डेड बॉडीज वहाँ पे पड़ी हुई हैं सर मेरे साथ तो मैं वहाँ खेती में गया था हम लोगों ने कहा था तो हमारे क्या व्यवस्था उन्होंने कहा सरकार प्रशासन शासन प्रशासन से कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं सर ऐसे आप लोग सेफ हो जाओ अपने आप में जी अपने आप में सेफ हो जाओ वो भी वो भी पुलिस वाले भी हमारे साथ बैठे हुए थे तीन तीन लेडीजें रात भर हमारे साथ बैठी रही ऊपर खेतों में हाँ। वो वो उनका कहना भी तो हम क्या कर रहे थे आपने जाना बताओ बस तो जो तो बच सकता है तो बचो अरे पुलिस वाले भी वहाँ कितने कितने पुलिस के जवान हैं जो वहाँ फंसे हुए हैं फंसे हुए फंसे हुए तो उधर पल्ली पार से साहब पुल से पल्ली पार एक पुल भी था ना बीच में गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर था जी जी वहाँ पे पुल वो पुल टूटा फिर वहाँ से हम लोग तो इधर आ गए थे मंदिर फिर उन लोगों ने उन लोग निकाल दिए गए फिर वहाँ से अभी पुलिस वाले भी हुए चौकी में वहाँ से कोई भी मतलब अब राशन नहीं सब जिस, जिसके पास जितनी राशन थी वो ये भी आपको तो बिल्कुल वहाँ राशन नहीं है सर वहाँ ठीक ठीक ठीक है ठीक ठीक है विष्णु जी मैं इस बात को आगे पहुँचाऊंगा ये आपका पहुँचा दीजिए सर प्लीज जी जी जो लोग बचे भी हैं उसे मर जाएंगे जी धन्यवाद ठीक है